अपनी कल्पना के अनुसार सुख दुख मान मूल तत्व आत्मा ज्यो का त्यों ओमकार का उच्चारण करके आत्मा में स्थित हो जाए बस आकार उकार मुकार आकार स्थूल जगत अ उमा ओम हो गया ठीक है अ से स्थूल जगत ऊ से सूक्ष्म जगत और माँ से कारण जगत फिर अर्धमात्र क्या है कि इन सब के ऊपर अर्धमात्र वो स्थूल जगत को भी जानते हैं सूक्ष्म जगत को भी जानते हैं स्थूल शरीर को हम देखते हैं सूक्ष्म भावों को विचारों को हम देखते हैं कारण शरीर नींद को भी हम जानते हैं तो हम तीनों से ऊपर हैं ओम का हमारे आत्मा का ही स्वभाव ओम है हमारे आत्म चैतन्य की महिमा है ओम जागृत स्वप्न सुषुप्ति ये तीन अवस्था उसको जानने वाला उससे न्यारा स्थूल सूक्ष्म कारण उसको जानने वाला उससे न्यारा ब्रह्मा विष्णु महेश उन सभी ने सत्ता ओमकार के उससे वो पृथक पहले सृष्टि के पहले में ओमकार शब्द फिर उससे गायत्री फिर उससे वेद फिर उससे शब्दगाल व्यवहार चलाने के लिए चौदह शब्द बने आई ऊंग रिल रेखा ए औंग ए ऊंचा हे रट लण यम घट दश सफर स इन शब्दों का विस्तार से फिर दंती सकार शकार विसर्ग ये सब इन दोनों के मेल से शब्द बने राम रामो राम राम रामेशु रामाभ्याम षष्ठी विभक्ति दूसरी विभक्ति रामेशु सप्तमी विभक्ति बहुवचन जानती है ना देख हाँ। तीन पढ़े हुए कैसा जानते हैं सरप्राइज है हम्म। तो ये तो शब्द हुए लेकिन फिर उसमें पद लगेंगे वाक्य बनेंगे तो सब ओमकार का विस्तार शब्द पद वाक्य विभक्ति द्वितीय विभक्ति तीसरी विभक्ति चौथी विभक्ति षष्ठी विभक्ति राम से क्या हो राम शब्द से क्या हो राम है हाँ, रामो राम तू भी जानता है बैल भी जानता है सच्चा मानते हैं उनके हृदय में इच्छा पूर्ति है राग द्वेष भी होता है राग से फंसता है द्वेष से जलता है लेकिन जिनको संसार स्वप्न लगता है उनको राग और द्वेष नहीं होता सहज में आनंद माधुर्य मौजी अच्छा, मौज ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म परमात्मा का ज्ञान होता है उनको राग द्वेष दिखता है लेकिन वो बाधित होता है जैसे रस्सी में सांप दिखा बैटरी से उठा के देखा रस्सी फिर दूर से वैसे ही सांप दिखा लेकिन बाधित हो गया ठूठे में चोर देखा लेकिन रियली देखा कि ठूठा है फिर दूर देखे तो चोर जैसा दिखा लेकिन वो चोर बाधित हो गया ठीक है हाँ। बाधित का मतलब ऐसे ही ब्रह्म में जगत दिखता है मूर्खों को सच्चा दिखता है ज्ञानी का जगत बाधित हो गया सीपी में रूपा दिखा नज़दीक देखा तो सीपी है अब दूर से फिर रूपा दिखेगा लेकिन रूपा बाधित हो गया मरुभूमि में पानी दिखा <laughs> एक बार मैं डीसा में था और मुझे माओश्री ले गए रणभूमि में सत्संग करने को तो शाम के चार साढ़े चार बजे होंगे मैंने नज़र डाली तो वो इतना पानी मैंने अंगोछा वंगोछा लिया कच्छा लिया बोले स्वामी जी नहाना है मैं क्या हाँ मैं नहा के आता हूँ तो बोले पानी तैयार है मैं क्या नहीं मैंने इशारा किया उधर जाऊँगा तो वो हंसने लगे गालों में मैं क्या क्यों बोले पानी की सब व्यवस्था इधर है यहाँ तो पानी की बहुत तकलीफ है मरुभूमि है ना रण में पानी की बहुत तकलीफ है मैं क्या तो उधर है ना उधर ही से नहाऊंगा पानी बाहर काय को ढो के लाओ तैरना भी जानता हूँ देखो इतना लहरा रहा है एक दूसरे के सामने देखे मैं क्या क्यों हंस रहे बोले स्वामी जी मावसरी है रण प्रदेश है मैं क्या तो खारा पानी होगा समुद्र का होगा कुछ भी होगा नहा लेंगे बोले नहीं ये मरुभूमि है अरे मैं क्या धरती फिर मैं क्या अच्छा घूम के तो आए थे जाए तो जहाँ जाए तो थोड़ा आगे और थोड़ा पानी आगे बालू को लताड़ते लताड़ते सूर्यास्त हो गया पानी तो दिखे ही नहीं आप दूसरे दिन कोई बोले चलो वहां तो बाधित हो गया पानी दिख रहा है लेकिन मेरे मन में पता है कि मरुभूमि है और सूर्य की किरण है इसको बोलते हैं बाद सामान्य अधिकरण हम्म। तो ऐसे ही जगत सारा बाध सामान्य अधिकरण सत्यता चली जाती सब दुखों की एक दवाई भाग जाना सीखो मेरे भाई लेकिन बाद सामान्य अधिकरण करो बाधित कर दो ये दिन भी बीत जाएंगे धीरज सबका मित्र है धीरज धर्म मित्र और नारी आपतकाल चारी ये सिद्धांत समझना चाहिए सब दुखों की एक दवाई भाग जाना सीखो मेरे भाग भगोड़े आदमी की वैल्यू नहीं होती भगोड़ा निर्दोष हो तभी भी सदोष माना जाता है और भगोड़े का थोड़ा देश हो लेकिन दोष की फरियाद करने वाले को मौका मिल जाता है देखो चई मुख है उसके जग जगत सच्चा मानता है बन बन के परेशान होगा राग द्वेष नहीं तो सहज में जो नियति होगा ईश्वर मिल गया मुफ्त में